विधि न कहे सही मोरु दुलारा नीच बीच जन निमिष पारा यह कहत मोहे आजुन शोभा अपने समुझे साधु सूचिको को भा मातु मंदिर में साधु सुचारे पुरयसयानत कोटि कुचारे हरई की कोदव माली सुसारे मुक्ता प्रसव के परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है सपन लोले सन का हो मोरय भाग धियवगाहु बिनु समझे निज अघ परिपाको जारी जाय जनन कहि को हृदय हे रिहा रेऊ सब वो राम एक ही भाती भले ही भल मोरा गुरु गोसाए साहिब सियरामो लागत मोहे निक परिणाम स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है साधु सभा गुर प्रभु निकट कहूँ सुथल सति भाव प्रेम प्रपंच के झूठ पुर जान हे मुनि रघुराव साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ यह प्रेम है या प्रपंच छल कपट झूठ है या सच इसे सर्वज्ञ मुनि सर वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं भूपति मरण प्रेम पनुराखे जनने कुमते जगत सब साखे न जाहे निकल महतारे जर हिंदु सह जर पुर नर नारे प्रेम के प्रण को निभा कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है माताएं व्याकुल हैं वे देखी नहीं जाती अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं महि सकल अन रथ करमूला, सो सुनि समु सहु सब सोला सुनि बेश लखन से यसा था बिनु पापानहिन पया देहि पाए शङ्कर साखे रहे उ यहि धाये बहुरि निहारे निषाद सने हो कुलिस कठिन उर भयऊ न बेहू मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा श्री राम रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सावेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं इस घाव से भी मैं जीता रह गया यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ यह फटा नहीं अब सब आखिन देखे हुआ जियत जीव जड़ सब ही सहाय जिन्हें निरखी मग सापिन बेचे तजहि विषम विषु काम सती तहि रघुनंदनु लखन सिय अनहित लागे जाहि तासु तनय तज दुसह दुख दैव सहाविका अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा